स्मरण सभी प्रकार से हम आत्माओं का ध्यान रखने वाला परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों प्रत्येक ईश्वर भक्त परमात्मा को विभिन्न गुणों से युक्त देखते हुए विभिन्न शब्दों के माध्यम से उसको पुकारता है परमात्मा के विभिन्न नामों संबोधनों के माध्यम से हम परमात्मा के स्वरूप को और अधिक समझते हैं और अपने मन में परमात्मा के स्वरूप को और अच्छी तरह गहरा बैठाने का प्रयास करते हैं महर्षि दयानंद ने जो बहुत से संबोधन परमात्मा को दिए आर्यभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में उन संबोधनों में आके का संबोधन महर्षि ने दिया हे दारिद्र्य विनाशक दारिद्र्य कहते हैं दरिद्रता को निर्धनता को दरिद्रपने को तो हे परमात्मा आप दारिद्र्य विनाशक हैं आप दरिद्रता को नष्ट करने वाले हैं समाप्त करने वाले हैं दरिद्र सामान्य रूप से हम उसे कहते हैं जिसके पास धन कम होता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन नहीं होता उसे हम दरिद्र कहते हैं तो परमात्मा दारिद्र्य का विनाशक है अर्थात परमात्मा हमें धन देता है मनुष्य परमात्मा की जितनी स्तुति करता है और जो भिन्न भिन्न प्रकार की फिर प्रार्थना करता है उन प्रार्थनाओं में धन की प्रार्थना एक मुख्य प्रार्थना रहती है और जन सामान्य को धन की न्यूनता ही सबसे अधिक प्रभावित करती है इसलिए वो परमात्मा से धन की ही प्रार्थना अधिक करता है धन के अतिरिक्त अन्य जो न्यूनताएं उसे प्रतीत होती हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता है लेकिन धन की प्रार्थना सर्वाधिक देखी जाती है और मनुष्य ये भी समझता है कि धन आ गया तो मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो परमात्मा से धन की कामना लगी रहती है तो यहां संबोधन में कहा हे दारिद्र्य विनाशक दरिद्रता यानी धन के अभाव को नष्ट करने वाले हैं जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करते वो इन ईश्वर भक्तों की प्रार्थना को देख करके हंसते भी हैं कि ये परमात्मा से धन की कामना कर रहे हैं परमात्मा कभी इनको धन देता है क्या धन की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है कमाने से होती है आप निठल्ले बैठ जाएं और परमात्मा से धन की कामना करते रहें परमात्मा छप्पर फाड़ करके धन दे देगा यह हमारे घर में सोने चांदी की हमारी तिजोरी में हमारी पेटी में ला करके रख देगा रुपयों की गड्डियां वहां पर ला करके रख देगा ऐसा तो कभी नहीं होता परमात्मा ऐसा नहीं करता तो परमात्मा से धन की प्रार्थना ईश्वर भक्तों के ऊपर एक बड़ा आक्षेप का कारण भी बनती है हंसी का कारण भी बनती है यदि परमात्मा धन नहीं देता है तो वो दारिद्र्य का विनाशक फिर कैसे रहेगा परमात्मा दारिद्र्य का विनाशक है यानी धन देने वाला होना चाहिए तो पहला बिंदु यहां हमें समझना है परमात्मा उस तरह से धन नहीं देता जैसा कि लोग सोच लेते हैं रुपए पैसे डॉलर सोना चांदी इत्यादि जिसे हम धन कहते हैं ये तो साधन धन के हैं वस्तुओं के हैं जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं उनको क्रय करने के ये उपाय हैं जिसे हम दरिद्र कहते हैं जो अपने को दरिद्र समझता है मोटे तौर पे रुपए पैसे सोने चांदी की न्यूनता वहां प्रतीत होती है वो समझते भी हैं लेकिन वास्तव में वहां किस चीज की कमी है अन्न की कमी है वस्त्र की कमी है दूध फल की मकान की कमी है जल की कमी है साधनों की कमी है इसलिए वो दरिद्रता है न कि पैसे के कारण से पैसा चूंकि माध्यम होता है तो जब हम दरिद्रता का अर्थ साधनों की न्यूनता के रूप में लेंगे और फिर देखेंगे कि परमात्मा दारिद्र्य विनाशक है तो भी एक अंश में होगा कि क्या परमात्मा हमें मकान बना के देगा वस्त्र दे देगा रोटी बना के दे देगा ऐसा भी वो नहीं करता है तो परमात्मा फिर दारिद्र्य का विनाशक कैसे है तो वैदिक रीति से शुद्ध रूप से परमात्मा को जब हम समझते हैं तो दारिद्र विनाशक का अर्थ भी उसी के अनुरूप हम देख पाते हैं ये ठीक है कि परमात्मा रुपए पैसे नहीं देगा बने बनाए मकान नहीं देगा रोटी नहीं देगा लेकिन इन सब के लिए जो मूलभूत वस्तुएं हैं आधारभूत वस्तुएं हैं उपादान कारण है रॉ मेटीरियल है वो तो परमात्मा ही देता है मकान बनाने के लिए जो पत्थर चाहिए सीमेंट चाहिए लोहा चाहिए वो मनुष्य कहां उत्पन्न कर सकता है यदि कोई चीज बनाता भी है तो प्रकृति से प्राप्त करके भूमि से प्राप्त करके फिर वो बनाता है और उसके बनने पे हमें लगता है हमारी दरिद्रता चली गई है हम निर्धन नहीं है साधन संपन्न हो गए हैं तो परमात्मा दारिद्र्य का विनाशक है इसका मतलब परमात्मा ने मूलभूत साधन हमें पर्याप्त मात्रा में दिए हैं परमात्मा ने कोई न्यूनता नहीं छोड़ी है वायु बहुत पर्याप्त है जल बहुत पर्याप्त है खूब बरसता है अन्न फल फूल खूब होते हैं खूब हो सकते हैं विभिन्न धातुएं खूब हैं धरती के अंदर खूब दी हुई हैं औषधियां सब साधन खूब दिए हैं हमें जितने बीजों की आवश्यकता होती है उससे अधिक बीज परमात्मा उत्पन्न करवा देता है पेड़ पौधे वनस्पति में अब इतने नीम के पेड़ हैं जितने नीम के पेड़ चाहिए उससे ज्यादा बीज उसके उत्पन्न होते हैं उससे किसी का भोजन भी हो जाता है नए पौधे भी उगते हैं हर जगह इतनी संपन्नता से चीजें उपलब्ध कराई हैं कि हमें कोई कमी नहीं रह सकती जो कमी रहती है वो हमारी व्यवस्था पुरुषार्थ की न्यूनता है एक तरफ आज संसार में कहा जाता है करोड़ों लोग भूखे सोते हैं जितना भोजन उन्हें चाहिए मिलना चाहिए वो उन्हें उपलब्ध नहीं होता है लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार और अन्य संगठनों के आंकड़े हैं कि धरती पर इतना अन्न है कि सब मनुष्य उसको खा भी नहीं सकते जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अन्न आज भी पैदा होता है कितनी भी जनसंख्या बढ़ गई हो और इससे भी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो भी ये भूमि सबको अन्न देने के लिए समर्थ है तो दरिद्रता कहां है परमात्मा की तरफ से कोई दरिद्रता नहीं है उसने साधन इतनी प्रचुरता से दिए हैं और ऐसा करते हुए ही वो हमारा दारिद्र्य विनाशक है दरिद्रता को नष्ट कर देता है हमें शुद्ध वायु की कमी है हमें उसकी कमी प्रतीत होती है तो वो परमात्मा की तरफ से नहीं है वो मनुष्य ने अपनी अव्यवस्था से उसे विकृत किया है परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है ये तो हुई बाह्य भौतिक साधनों की पूर्ति हमारे शरीर को देखें तो बुद्धि इंद्रियां व्यवस्थाएं परमात्मा ने खूब कर रखी हैं अपने आप कर रखी हैं हम स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करें उचित रहे तो शरीर में खून की कोई कमी नहीं होने वाली है ये भी एक तरह की दरिद्रता है रक्त की कमी हो रही है लोहे की कमी हो रही है कैल्शियम की कमी हो रही है और किसी विटामिन की कमी हो रही है प्रोटीन की कमी हो रही है सामान्य नियमों का हम पालन करेंगे तो शरीर में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती अलग से लेने की आवश्यकता ही नहीं है मीठा भी मिल जाएगा चिकनाई भी मिल जाएगी खनिज लवण सूक्ष्म खनिज लवण भी सब कुछ मिल जाएगा कोई कमी नहीं है तो दरिद्रता का मतलब है न्यूनता जितनी आवश्यकता है उससे कम उपलब्ध होना यह दरिद्रता है तो शरीर के लिए जो आवश्यक है वो हमें सब मिल सकता है और सूक्ष्मता में जाएं तो दरिद्रता ज्ञान की भी होती है हम एक धन से दरिद्र कहते हैं ये कहते हैं ये बुद्धि से दरिद्र है ज्ञान से दरिद्र है तो परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उसमें ज्ञान से दरिद्र भी कोई नहीं रह सकता ये ज्ञानेन्द्रियां इतनी प्रखर बनाई हैं इनसे ज्ञान तो हमें सतत प्राप्त हो ही रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध विभिन्न क्रियाएं जो चल रही हैं सबका ज्ञान हो रहा है जो चीज हम खाते हैं पीते हैं वो कैसी लग रही है उसका कैसा प्रभाव होता है वो सब जान सकते हैं कोई व्यक्ति गलती करता है प्रकृति के नियम के विपरीत चलता है उसे क्या दोष होते हैं क्या बीमारी आती है क्या बाधा आती है ये भी हमें पता लगता रहता है हर क्षण तो हम जान सकते हैं एक इंद्रिय से नहीं पांच पांच तरह के इंद्रियों से जान सकते हैं वस्तु के तरह तरह के स्वरूप भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से उसे जान सकते हैं तो ज्ञान की भी कोई दरिद्रता हमारे अंदर नहीं रह सकती यदि हम परमात्मा के इन साधनों का ठीक उपयोग कर लेते हैं परमात्मा की तरफ से कोई दरिद्रता नहीं है उसने तो ज्ञान की दरिद्रता को नाश करने की व्यवस्था कर रखी है ज्ञानेन्द्रियों से सूचनाएं मात्र अंदर गईं उसके बाद उनका विश्लेषण नहीं हुआ निर्णय नहीं निकला तो भी दरिद्रता हो सकती है जैसे कि कंप्यूटर में हो सकती है लेकिन परमात्मा ने बुद्धि दी मन दिया जिससे हम उचित अनुचित का निर्णय कर सकते हैं हित अहित का निर्णय कर सकते हैं निश्चय कर सकते हैं तो परमात्मा की दृष्टि से देखें तो उसने इतनी व्यवस्था की है हमारे अंदर ज्ञान की दरिद्रता नहीं रहनी चाहिए नहीं रह सकती और वाणी अलग दे दी है एक ने ज्ञान प्राप्त किया तो दूसरे को भी मिल जाता है एक का अनुभव दूसरे तक पहुंच सकता है अपने आप में भी हम स्वयं देखें सुने समझें तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है हर चीज ठीक समझ में आ जाएगी जागरूक रहें पूर्वाग्रह से ग्रस्त न रहें सत्यग्राही रहें लेकिन इससे बढ़ के और सुविधा दे रखी है कि दूसरे का ज्ञान हमें मिल सकता है हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं कितने लोगों का अनुभव ज्ञान हमें मिल सकता है वाणी दी है लेखन की है भाषा है कोई दरिद्रता है ही नहीं ज्ञान की परमात्मा ने स्वयं चारों वेदों का ज्ञान दे दिया है ये ज्ञान की दरिद्रता को दूर करने का उपाय कर रखा है उसने और आगे बढ़े तो अंतकरण में ज्ञान की प्रेरणा करके अंतकरण में भी ज्ञान दे करके उसे दूर करता रहता है हम चाहें तो ले सकते हैं ज्ञान की कोई कमी नहीं है दरिद्र शब्द का मतलब दुर्गति होता है पाणिनि ने जो दरिद्र धातु दी दरिद्रा दुर्गत दुर्गति का मतलब दरिद्रता होता है गति का मतलब है स्थिति गमन जो दरिद्र होता है उसकी दुर्गति ही होती है भूख लग रही है रोटी नहीं है पानी चाहिए पानी नहीं है शुद्ध जल नहीं है रुग्ण हो गए हैं चिकित्सा नहीं है चिकित्सालय नहीं है ये दुर्गति दरिद्र दरिद्रता है बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय चाहिए विद्यालय नहीं है विद्यालय है तो अध्यापक नहीं है ये दरिद्रता है ये दुर्गति है तो दरिद्रता का अर्थ दुर्गति ही होता है और चूंकि ये दुर्गति साधनों के अभाव में होती है इसलिए हम दरिद्रता का अर्थ लेते हैं साधनों का अभाव धन का अभाव इन अभावों से हमारी दुर्गति होती है गलत स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं उन्नति नहीं कर पाते तो हमारी दुर्गति का कारण भौतिक साधन है परमात्मा ने प्रचुर मात्रा में सब दिए हैं हमारी दुर्गति का कारण हमारा ज्ञान की न्यूनता है परमात्मा ने ज्ञान प्राप्ति के प्रचुर साधन दिए हैं प्रचुर ज्ञान दिया है उन सब के रहते हुए भी यदि हम दुर्गति को प्राप्त होते हैं चाहे तो साधनों की दृष्टि से चाहे ज्ञान की दृष्टि से यह हमारा अपना दोष है परमात्मा तो सदा हमारी दुर्गति के विनाश में लगा हुआ है दुर्गति का विनाश उसने कर रखा है दारिद्र्य का विनाश कर रखा है अपनी तरफ से जो दुर्गति है जो दरिद्रता है वो हमारे अपने कारण से हम देखते हुए भी नहीं देखते हम सुनते हुए भी नहीं सुनते कुतत्व पश्यन न ददर्श वाचा उतत्व शृण्व न शृणोती एना सूर्य दे रखा है हम ही ना देखें हम ही सूर्य का लाभ ना उठाएं तो हमारा दोष है तो महर्षि ने परमात्मा को संबोधन दिया हे दारिद्र्य विनाशक दरिद्रता को दुर्गति को विनाश करने वाले हम जिस संपन्न स्थिति में हैं धन की दृष्टि से साधनों की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से ये सब हमारे पास न होते तो हमारी क्या स्थिति होती वो हमारी दुर्गति ही होती जब हमारे पास शरीर नहीं होता आत्मा बस ऐसे ही मूर्छित कुछ जान नहीं सकती कुछ कर नहीं सकती ये दुर्गति ही तो है कोई मनुष्य ऐसा हो जो मूर्छित हो जाए न बोल सकता हो न देख सकता हो न खा सकता हो और ऐसे ही उसको वर्षों रहना पड़ता हो उठ नहीं सकता बिस्तर पर ही पड़ा है हम कहते हैं बहुत दुर्गति हो रही है तो यदि ये सब साधन परमात्मा ने नहीं दिए होते तो आत्माओं की क्या स्थिति होती दुर्गति ही तो होती दुर्गति में ही तो होते उन्हें क्या प्राप्ति हो रही थी क्या उन्नति हो रही कुछ नहीं तो परमात्मा ने सृष्टि को बना के हमें शरीर दे के मुक्ति के साधन दे करके हमारी एक दुर्गति को हटाया है और अब इन साधनों का उपयोग करके जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो ये इस समय जो दुर्गति बची है वो भी दूर कर देगा तो परमात्मा दारिद्र्य का विनाशक है परमात्मा साधन उपलब्ध करा देता है बाकी तो हमें स्वयं करना है इसी रूप में परमात्मा को दारिद्र विनाशक हम समझें इसी रूप में उसको प्रार्थना करें कि मेरी जो आज दुर्गति है जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस क्षेत्र में मेरे पास दरिद्रता है वो मेरी दूर हो आपके लिए साधनों का मैं अच्छी तरह उपयोग करूं और मैं भी संपन्न बन जाऊं परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि उसमें कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता सामान्य रूप से हम सोच लेते हैं कि सब तो संपन्न नहीं हो सकते धनवान नहीं हो सकते कुछ तो दरिद्र रहेंगे ही लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में इतने साधन दिए गए कि कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहेगा नहीं रह सकता किसी भी व्यक्ति की दुर्गति नहीं रह सकती इतने साधन दिए गए हमारी संपन्नता की परिभाषा यदि इस चक्रवर्ती राज्य है तो वो ठीक है वो सबको नहीं मिल सकता लेकिन जितनी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सकती है और वो हो रही है तो हम हमारी दुर्गति नहीं है हमने कामनाएं बहुत बढ़ा करके और फिर अपने को दरिद्र समझ लिया उसकी तो पूर्ति कोई नहीं कर सकता लेकिन जितना हमें आवश्यक है उससे अधिक परमात्मा ने दिया है तो दुर्गति नहीं कहलाएगी दरिद्रता नहीं कहलाएगी संपन्नता कहलाएगी तो परमात्मा हमारे दारिद्र्य का विनाशक है विनाश करता है वो तो इस रूप में परमात्मा को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ